तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की लीला को रिकॉर्ड किया गया होता उस तरह खैर ऑडियो रिकॉर्डिंग तो है चैतन्य चरतामृत है श्रीमद भागवतम है तो इस तरह से वृत्रासुर का लगता है जैसे सुखदेव गोस्वामी फोटो खींच रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है बाह कटी हुई बताई बाह कटी है कह रहे हैं कि बब हो बहुत सुंदर लग रहा है और शिला प्रभुपाद जी भी अनुवाद कर रहे हैं ही लुक वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर वास्तव में जगह जगह से शोभा होती है भगवान शिव जब मुंडमाल पहनते हैं और टप टप मस्तक से खून छूता है और इधर भयानक सांप और मुर्दे की राख लगाते हैं तो इसीलिए और सुंदर लगते हैं यह सब जगह बात लिखी गई है और कोई घृणा नहीं करता एक बार मैं गया था महाकालेश्वर उज्जैन में उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है तो <clears throat> हम लोग जो कुंभ मेला लगा था तो गए थे सूर्य तो भगवान का दर्शन करा मैं शिव जी का दर्शन करा तो गए दर्शन करने के लिए तो हमको पहले एक व्यक्ति बताया था कि प्रतिदिन ताजा मुर्दे की राख आती है शिव जी को लगाने के लिए एकदम ताजा स्मशान से आता तो वो रखा हुआ था एक जगह पर तो जो आते थे ऐसे तिलक करते थे तिलक करते थे मैं तो हक्का वक्का मैं जानता था कि ताजा मुर्दे की राख है तो और लोग लगा रहे थे और मैं आगे आगे भक्तों के साथ था तो मैं तो पीछे हटने लगा फिर बाद में कि हम तो नहीं लगाएंगे तो एक व्यक्ति कहा कि प्रसाद है तो शायद तुम्हें कहा मैं इसके योग्य नहीं हूं इसके अधिकारी शिव जी है मैं मैं ये नहीं लगा हूं मैं नहीं लगाया ठीक है बहुत बड़ा चीज है लेकिन इसके अधिकारी भगवान शिव है हम नहीं है तो भगवान शिव चाहे सांप लगावे चाहे हड्डी की माला पहने कुछ भी वे बहुत सुंदर लगते हैं और भगवान विष्णु सुंदर लगते हैं कमल की माला पहनने से या पुष्प की माला पीताम्बर पहनने से अगर भगवान विष्णु मुंडमाल धारण कर ले तो भयावह लगेंगे सब लोग कहेंगे क्या हो गया भगवान पागल हो गए क्या ये क्या धारण करने लगे लेकिन शिव जी की इसी के कारण प्रशंसा होती है भेष ऐसा है कि फिर भी उनके पास नारद जी कथा सुनते आते हैं सुनने आते हैं संकादिक आते हैं सब लोग मिलते हैं कोई घृणा नहीं करता है तो युद्ध में जब बाह कटी हुई है और भक्ति पर प्रवचन चल रहा है तो वही शोभा है भगवान भी जब कुरुक्षेत्र में लड़ते थे तो भीष्म पितामह उनके कवच को तोड़ दिए थे और कवच तोड़ करके भगवान के देह में बाण मारे थे फिर भी भगवान में रक्त और आत्मा का कोई भेद नहीं है लेकिन फिर भी रक्त चू रहा था जहां बाण लगा हुआ था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि युद्ध में क्या आनंद आया जब एक बाण न लग जाए <laughs> तो भगवान क्षत्रिय आवेश में है इसलिए शरीर में बाण लगना उनको वैसे ही सुखी कर रहा है जैसे ब्रज में गोपियों के नख का आघात उनको सुख देता है इतना सुख का अनुभव कर रहे हैं तो स्थान के कारण सुख प्राप्त होता है स्थिति के कारण वृत्रासुर की शोभा का वर्णन किया जा रहा है बहुत सुंदर लग रहे थे जो इस तरह से अब उनकी बांह कट गई आयुध लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है लेकिन वृत्रासुर के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाप्राणो महावीर जो महासर्प युवा वृत्रासुर में वृत्रासुर का शरीर बहुत बड़ा था इसको महाप्राण कहते हैं और महावीर जो और बहुत बड़ा पावर था बल था तो जैसे कोई महासर्प कोई अजगर किसी हाथी को निगल जाता है बहुत बड़ा अजगर निकल निगल जाते हैं जैसे महा अजगर हाथी को निगल जाता है उसी तरह से वृत्रासुर इंद्र को वज्र और हाथी के साथ खा गए इतनी बाह कटने के बाद इंद्र को खा गए बिल्कुल उसका वर्णन कर रहे हैं यहां पर द्वीपम द्वीप का अर्थ होता है हाथी द्वीप जो दो बार पिए उसको द्वीप कहते हैं द्वीप नहीं जो दीर्घ इकार से लिखा जाता है उसका अर्थ होता है आइलैंड लेकिन द्वीप हर्षिकार से लिखा द्वीप का अर्थ दो और प का अर्थ पीने वाला हाथी दो बार पीता है एक बार सूह से पानी लेता है एक बार ऐसे पीता है और उसी सूढ़ से फिर मुख में डालता है तो दो बार पीता है इसलिए हाथी को द्वीप कहा जाता है तो जैसे महायजगर हाथी को खा जाता है वैसे वृत्रासुर इंद्र को खा गया <laughs> अद्भुत प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं कैसे खाए कृत्वा धरामहनुम भूमौ दैत्यो दिव्युत्तरामहनुम अपने नीचे के जबड़े को वृत्रासुर ने जमीन से सटाया वो भी तो कई माइल में फैला होगा मुख जमीन से लगाया और उत्तरम हनु और ऊपर के जबड़े को पूरा आकाश में ले गया मुख को बहुत बड़ा बना दिया और नभो गंभीर वक्त रहा और भीतर जो मुख था वो आकाश की तरफ बड़ा ले लिहोर वर्ण जी होया और वृत्रासुर की जो जीव थी वो भयानक सर्प की तरह थी बहुत बड़ी जीव तो जबड़ा फैला करके जीव निकाल करके और दृष्टा भी काल कल्पा भी और दांत तो ऐसे थे जैसे काल के समान जमराज के समान और वो चला इंद्र के तरफ अति मात्र महाकाया आक्षेपम तरसाग्रीम जब वृत्रासुर चले झपट करके इंद्र के तरफ तो उसने पर्वत कांपने लगे इतनी धमक हो रही पर्वत कांपने लगे गिरिराट पादचारी व सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय पर्वत चल रहा है इतना बड़ा शरीर था और चल रहा है तो लगता था कि गिरिराट गिरिराज हिमालय पादचारी वन लगता था कि हिमालय पर्वत पैदल चल रहा है चल वॉकिंग करने लगा और चला और जा करके जी फैला करके जबड़ा फैला करके और हवा से खा गया इतना जोर से वो खींचा हवा की इंद्र उस हवा के झोंक से मुख में आ गए इसे तो इधर मशीन होती है ना को मशीन चोखती है <laughs> कोई कोई बहुत तगड़ा होता है बड़े बड़े टुकड़े को कंकड़ को कागज को प्लास्टिक को सोख लेता है तो वृत्रासुर मुख फैला करके इतना जोर से झस्ट किए इतना जोर से इनहेल के खींचे हवा को कि इंद्र हाथी के साथ खींचा कर मुंह में आ गए इतने जोर वो सांस लिए खींचा जग्रास स समाशाद वज्रणम सहवाहन निकट आकर के खा गया कोई व्यक्ति खाएगा तो हाथ से पकड़ करके खाएगा ऐसे खाएगा हाथ तो कटा हुआ था <laughs> लेकिन वो आकर निकट से मुंह फाड़ करके और खा गया जगरा से सब समा साध्य बिल्कुल निकट आकर के खा गया निकल गया और हाथ में वज्र है वज्र भी खा गया इंद्र को तो खाए हाँ, सह वाहन और ऐरावत हाथी को भी खा गया न हाथी पर इंद्र चढ़े हुए थे तो हाथी को वज्र को सबको खा गए तो वृत्र ग्रस्तम तमालोक्य स प्रजापत सुराहा कष्ट मिति निर्वीणा चुक्रुषु स महर्ष है वहां जितने भी प्रजापति जुटे हुए थे यहां तक कि भगवान ब्रह्मा भी तो प्रजापतियों के साथ जितने देवता थे और महर्षि जिन्होंने इंद्र को कहा था कि तुम वृतरासुर को मारो इंद्र नहीं मारना चाहते थे ब्रह्म हत्या के दोष से लिप्त नहीं होना चाहते थे आगे वो कथा आएगी कल तो वृतरासुर इंद्र नहीं चाहते थे वृतरासुर का वध करना लेकिन महर्षियों ने कहा था कि नहीं तुम करो हम लोग फिर अश्वमेध जग करके तुमको पाप से मुक्त कर देंगे तो वे महर्षि लोग पछताने लगे हाय रे हम लोगों ने क्यों कहा कि वृतरासुर का वध करो इंद्र तो आज समाप्त हो गया हाय हाय अब कौन जगत का पालन करेगा कौन वर्षा करेगा या होगा तो बहुत हाय हाय करने लगे ब्रह्मा जी हाहाकार करने लगे सारे देवता और महर्षि वे लोग ये समझे कि इंद्र को चबा जाएगा खा जाएगा तो खा गया तो अगर दांत तो जितना बड़ा बड़ा उसका दांत था पीसेगा तो तो हड्डी पसली निकल जाएगी इंद्र की लेकिन इंद्र को केवल निगल गए चबाए नहीं तो भारी भारी पहाड़ जैसा तो दांत था उसका विशाल विशाल चक्की जैसा एक बार में कितने लोगों को पीस सकता था तो सब लोग हाहाकार करने लगे रोने लगे इस तरह से इंद्र को खा गया से सोच रहे थे कि अब तो इंद्र खत्म हुआ तो वो क्या किए कि वृत्रासु तुरंत भगवान के ध्यान में डूब गए सोचे अब क्या युद्ध करना है इंद्र खत्म हुआ भगवान में अपना मन लगाया समाधि में हो गए उसी समाधि की दशा में भगवान इंद्र ने वज्र से उनके पेट को फाड़ दिया अगर वृत्रासुर जगे होते बाह्य वृत्ति होती <laughs> तो वह ऐसा कभी नहीं कर सकते थे इंद्र तो सुखदेव जी कहते हैं कि प्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरम गतः महापुरुष सन्नद्ध योग माया बलेन च असुरेंद्रेण वृत्रासुरेण निगीर्ण है अपनी निगले जाने पर भी न ममार उदरम गत निगले जाने पर भी पेट में जा करके भी इंद्र न ममार मरे नहीं क्यों नहीं मरे महापुरुष सन्नद्ध महापुरुष का अर्थ भगवान नारायण नारायण कवच में और नारायण में कोई भेद नहीं है इस महामंत्र में और भगवान में भेद नहीं है उसी तरह से नारायण कवच एक स्त्रोत्र है उसमें और भगवान में भेद नहीं है तो जो व्यक्ति नारायण कवच का जप करता है पाठ करता है तो उसकी वैसे रक्षा होती है जैसे भगवान पर्सनली किसी की रक्षा करें तो इंद्र ने बहुत अभ्यास किया था नारायण कवच का तो उस नारायण कवच के कारण वे सुरक्षित रहे जो पेट में गए तो उस समय भी बोल रहे थे महा ओम हरीर विदध्यान मम रक्षा निष्ठांग पद्म पतगेंद्र पृष्ठे दरार चरमा से गदे सुचाप पाषण धानुष्ट गुणष्ट बाह इस तरह से जो स्त्रोत्र लगे बोल रहे और योग माया बले न चाह और योग का आश्रय लिए योग में योगी छोटा से छोटा बन जाता है तो भगवान इंद्र जब भीतर गए तो अपने को इतना सूक्ष्म बना लिए कि दांत गिराने पर भी वो चपाक पेट में वो कहीं मर नहीं सकते थे और माया माया का बल था कि अपने को कहीं भी अंतरहित कर सकते थे वो हवा जैसा बन सकते थे पेट में यह शक्ति थी इंद्र की तो एक तो नारायण कवच का पाठ किए वो रक्षा कर रहा था दूसरा अष्टांग योग रक्षा रक्षा कर रहा था और तीसरे माया माया के द्वारा कोई कोई व्यक्ति तुरंत कहीं से अंतरहित हो सकते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म बनकर कहीं से निकल जा सकते हैं कभी विजिबल होते हैं कभी विजिबल नहीं होते हैं तो देवराज इंद्र जब पेट में गए होंगे तो किस तरह वे बचना चाहते होंगे इसको सहज समझा जा सकता है जब मुख में गए होंगे तो दांत से <laughs> दांत के नीचे वो अपने को बिल्कुल हवा जैसा बना करके वो पेट में चले गए और वृतराशु को समाधि लग गई तो इंद्र देवता अब वज्र हाथ में लिए ही थे भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिम निष्क्रम्य बलभित विभु उच्च कर्त सिर सत्र और गिरे श्रृंगमी बहुजसा वज्रेण तत्कुक्षिम भित्वा वज्र से भगवान इंद्र ने उसके पेट को फाड़ा द्वार बनाया निकलने के लिए बल नामक असुर का वध किया था इंद्र ने तो इनके लिए इसका वध करना भी स्वाभाविक था तो बल के शत्रु इंद्र समर्थ इंद्र अपने वज्र से वृत्रासुर के पेट को फाड़ दिए और फाड़ करके आ करके उनके सिर को काटने लगे क्योंकि पेट फाड़ने के बाद भी इंद्र को विश्वास नहीं था कि ये <laughs> मर जाएगा अभी भी खतरा था राक्षस असुर भूत प्रेत ऐसे होते हैं और सांप कि उनके शरीर को कहीं से काट दीजिए फिर भी उनके जीने की संभावना रहती है और बदला ले सकते हैं तो इंद्र जब पेट से निकले तो सिर पर वज्र चलाए मस्तक पर काटने लगे बहुत वेग से चलाए काटने के लिए वृत्रासुर का मस्तक पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था बहुत ऊंचा और बहुत चौड़ा मस्तक था शरीर के साइज के अनुरूप ही था शरीर बहुत बड़ा था तो मस्तक भी बहुत बड़ा था शरीर की उपमा पर्वत से दी गई तो मस्तक की उपमा पर्वत के शिखर से दी ही जानी चाहिए स्वाभाविक है जब हिमालय से उनके शरीर की तुलना की गई तो एक बहुत भारी शिखर से पर्वत की तुलना की जाए तो कौन आश्चर्य है तो उस सिर को काटने लगे चला दिया वज्र को वज्र को चलाया और चारों तरफ से बहुत वेग से काटना चालू किया चारों तरफ से काट रहा था तो शिला सुखदेव जी कहते हैं वज्रस्तु तत्कंधर्मा सुवेग कृन्तन् समन्तात् परिवर्तमानः न्यपातयत् तावदहर्गणेन यो ज्योतिषाम अयने वार्त्रहत्ये भगवान इंद्र के द्वारा चलाया हुआ वह वज्र वृत्रासुर के कंधे को गर्दन को काटना चालू किया बड़े वेग से आंसू वेग प्रचंड वेगवान समानता चारों तरफ से काटना चालू किया परिवर्तमान और जोर से चल रहा था घूम रहा था लेकिन काटते काटते वह वृत्रासुर के मस्तक को उतने दिनों में गिराया जितने में चंद्रमा सूर्य आदि के दो अयन बीत जाते हैं भगवान सूर्य चलते हैं तो छह महीना दक्षिणायन में रहते हैं और छह महीना उत्तरायण तो छह छह महीने पर एक आयन होता है तो यहाँ आयने का अर्थ द्विवचन दो आयन बीत गए छह महीना उससे दो के गुना करेंगे बारह महीना बारह महीने में तीन सौ साठ दिन होते हैं तो इतने वेग से मशीन जैसे खरखर खरखर वो गर्दन को काट रहा था वज्र काटते काटते 360 दिन बीत गया 360वें दिन तब तो वो गिरा मस्तक अद्भुत वर्णन है इस तरह का गर्दन काटने में 360 दिन लगा तब मस्तक कट करके गिरा और अब तक कोई भी जय जयकार नहीं किया था कोई देवता गंधर्व सिद्ध मुनि कोई नहीं जब मस्तक कट करके गिरा तब देवता महर्षि गंधर्व सिद्ध ये सब लगे बाजा बजाने जय जयकार करने नगाड़े बजने लगे दुंदुभिया बजने लगी इंद्र के स्वागत में धन्य है धन्य है और फूल की वर्षा होने लगी इंद्र तदा चखे दुंदु भयो निदय विनय दुह गंधर्व सिद्ध समहर्ष संघ वर्त्रघ्नलिङ्गैस्तमभीष्टवाना मंत्रैर्मुदा वर्षम तो दुंदुभिया बजने लगी सब प्रकार के बाजे बजने लगे स्वर्ग में आनंद में वृत्रासुर मारा गया वृत्रासुर मारा गया जब गिरा था तब तक नहीं बजी मस्तक कट गया तब बजना चालू हुआ क्योंकि देवता लोग अभी भी शंका में थे वे सोचते थे कि जब बाह कटने के बाद भी खा गया तो जब तक मस्तक नहीं कटता है तब तक कोई विश्वास नहीं है कि ये मरा क्या हुआ कुछ भी खतरा कर सकता है तो मस्तक कट करके गिरा तब भयो बिने दु दुंदुभिया बजने लगी और सब प्रकार के बाजे बजने लगे गंधर्वगण गण महर्षियों के साथ इंद्र की प्रशंसा करने लगे कैसे वार्तज्ञ लिंग ही मंत्र वृत्रासुर का किस तरह से वध किया भगवान इंद्र ने उस वध की लीला को तत्काल गीत बना बनाकर गाने लगे धन्यवाद देने लगे देवताओं को दूसरे का बनाया हुआ गीत याद करने की जरूरत नहीं होती है और जो बोलना चाहते हैं तो सीधा गीत में बोलते हैं सीधा इस प्रकार के आंसू कभी होते हैं कोई कोई वृंदावन में बलमाली शरण शास्त्री थे एक बार राष्ट्रपति आए थे वृंदावन में तो उनके स्वागत में सीधा संस्कृत में श्लोक बोल रहे थे पहले के बनाए हुए नहीं थे और साधारण आदमी के लिए संस्कृत के शब्द का अर्थ जानना कठिन होता है वो संस्कृत में धारावाहिक स्वागत करते जा रहे हैं तो इस तरह से देवता गंधर्व सिद्ध महर्षि ये सब इंद्र की स्तुति करने लगे कविताओं में गाने लगे जिसे आप इतने पराक्रमी हैं वृतरासुर इतना उत्पाती था आपने धन्य आपने विश्व को सुखी किया आज सबका हेडेक खत्म हो गया अब धन्य है ये है वो है इस तरह से वर्णन कर रहे थे और कुसुम ही अभ्य वर्षण और खूब इंद्र पर फूलों की वर्षा हो रही थी जय जयकार हो रहा था बहुत बड़ा काम किया वृतरासुर का वध हो जाना उन लोगों के दृष्टि बहुत बड़ा काम था वास्तव में नहीं तो वे लोग तो कई साल से सोए नहीं थे वृतरासुर के कारण नींद हराम हो गई थी वृत्रासुर मरा आज लोग ठीक से सो पाएंगे अब भय बीत गया नहीं तो लोगों को भय रहता था कब आकर खा जाएगा किसको कोई पता नहीं था